बल्कि हम बातिल पर हक की चोट लगाते हैं तो वो उसे कुचल देता है तो वो उसी वक्त मिट जाता है और तुम्हारे लिए तबाही है उन बातों की वजह से जो तुम बनाते हो